आवाज ठीक आ रही है सबको ओम आवाज ठीक आती है आपको ठीक तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ प्रेमी सज्जनों आर्यों को परमात्मा के प्रति क्या भाव रखना चाहिए ये सारा संग्रह आर्यभिविनय में किया गया है आर्याभिविनय के प्रथम भाग का अड़तीसवां मंत्र आज हम लोग देख रहे हैं गयस्फानो वहा वसुवित पुष्टिवर्धन सुमित्र सोमनो भव जिस प्रकार पिछले मंत्रों में परमात्मा को सोम के रूप में कहा गया यहां भी परमात्मा को सोम शब्द से संबोधित किया है ऋग्वेद के इक्यानवे में सुप्त के ये मंत्र एक साथ हैं ग्यारह बारह और तेरह यहां भी तीनों दिए गए हैं और सोम का अर्थ महर्षि ने इस मंत्र में खोला नीचे परमात्मा इस जगत का उत्पादक है हे सोम अर्थात सर्व जगत उत्पादक तो प्रसव अर्थ उत्पत्ति उत्पादन अर्थ महर्षि ने यहां लिया है हे सब जगत के उत्पादक सोम उस परमात्मा को कहा गया उसके विशेषणों को इस मंत्र में दिया परमात्मा की स्तुति करते हुए उसको बताया गया तो पहला शब्द है गायस फान वो परमात्मा महर्षि के अर्थ में प्रजा धन जनपद और सुराज्य का बढ़ाने वाला है इसमें दो शब्द अलग अलग हम करेंगे गाय और स्वाना गाय शब्द संस्कृत में वेद के अंदर धन के लिए प्रयुक्त किया गया है प्रजा के लिए भी प्रयुक्त किया अपत्य के लिए संतान के लिए भी गाय शब्द प्रस्तुत किया गया है और घर के लिए गृह जो हमारा निवास स्थान है उसके लिए भी गाय शब्द का प्रयोग किया गया है तो प्रजा संतान निरुक्त में अपत्य शब्द लिखा है महर्षि ने उसी बात को यहां पर प्रजा शब्द से कहा है निरुक्त में धन शब्द कहा है महर्षि ने यहां धन शब्द भी कहा है और निरुक्त में गृह नामों में भी गाय शब्द गय शब्द गय शब्द पढ़ा है गयस्फाना गय शब्द है ये गय शब्द निरुक्त में अपत्य अर्थ में पढ़ा गया है धन अर्थ में पढ़ा गया है और गृह अर्थ में निवास स्थान इन तीनों को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है तीनों का ये नाम है तो महर्षि ने यहां पर प्रजा धन जनपद और सुराज्य का बढ़ाने वाला जो जनपद और सुराज्य का बढ़ाने वाला ये शब्द प्रयोग किया ये निवास स्थान या गृह के प्रतीक के रूप में किया गया स्फान संस्कृत में धातु है स्फाई वृद्धि अर्थ में है वो बढ़ाने अर्थ में है बढ़ने अर्थ में है तो परमात्मा गय को बढ़ाने वाला है इन तीनों चीजों को बढ़ाने वाला है गायस गयस्फान है इन तीनों को बढ़ाने वाला है दूसरा शब्द है अमीवहा अमीव और उसको नष्ट करने वाला अमीवहा रोगों को नष्ट करने वाला संस्कृत में अम शब्द रोग अर्थ में आता है अम धातु अम रोगे और अमीवा ये कृमि आदि के लिए जो रोगोत्पादक हैं और रोग के अर्थ में भी आता है परमात्मा रोगों का नाशक है हानिकारक चीजों का नाशक है इसलिए उसको कहा अमीवहा महर्षि ने अर्थ किया इसका अमीवहा शारीर इंद्रियजन्य और मानस रोगों का हनन विनाश करने वाला है परमात्मा रोगों का नाशक है उसको खोला शारीर अर्थात शरीर के रोगों का भी वो नाशक है वो इंद्रियों के रोगों का भी नाशक है और वो मन के रोगों का भी नाशक है ये तीनों हमारे साधन हैं हमारे इन साधनों में जो विकृति आती है रोग आता है उनकी ऐसी स्थिति बनती है जिससे हमें दुख प्राप्त होता है उसे भी परमात्मा हटाने वाला है नष्ट करने वाला है तो वो है अमीवाह फिर परमात्मा का एक और विशेषण दिया स्तुति के लिए वसुवित वो वसु को जानने वाला है वसुओं को जानने वाला है वसु शब्द निरुक्त में धन के नामों में पढ़ा गया है धन जो भी चीजों का हमारा साधन होते हैं उन सबको धन अर्थ में लेते हैं धन से उन सब का ग्रहण होगा महर्षि ने अर्थ किया कि सब पृथ्व्यादि वसुओं का जानने वाला है पृथ्वी आदि आठ वसुओं की गणना की जाती है महर्षि ने भी सत्यात प्रकाश में की है तो आठ वसु हैं पांच महाभूत उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच महाभूत उसके अलावा चंद्रमा सूर्य और नक्षत्र ये आठ वसु कहे गए हैं वसु इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमें वसाते हैं बसाते हैं हमारे बसाने में ये कारण बनते हैं निमित्त बनते हैं सहयोगी बनते हैं इसलिए इनको वसु कहा गया इन सब को इन वसुओं को समस्त धन को ऐश्वर्य को वो जानने वाला है उसे पता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होती है हो सकती है इसको वो अच्छी प्रकार से जानता है इसलिए वो वसुवित है आगे कहा पुष्टिवर्धन वो पुष्टि को बढ़ाने वाला है पोषण को बढ़ाने वाला है हम जिस भी रूप में है हमारा शरीर है उसकी पुष्टि होती है उसका बल बढ़ता है सामर्थ्य बढ़ती है इंद्रियों की मन की आत्मा की पुष्टि वर्धना का अर्थ करते हुए महर्षि ने अपने शरीर इंद्रिय मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाला है अमी वहा जब कहा तो शरीर इंद्रिय और मन इन तीन के रोगों को हटाने वाला कहा और जब पुष्टि वर्धना कहा उसमें भी इन तीन का ग्रहण है शरीर की पुष्टि इंद्रियों की पुष्टि मन की पुष्टि पर उसके साथ में आत्मा की पुष्टि भी लिखी है इन चारों की पुष्टि को वो बढ़ाता है पुष्टि को करता है शरीर की पुष्टि शरीर का बलवान होना इंद्रियों की पुष्टि हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं गोलक हैं उनकी शक्ति सामर्थ्य का बल का बढ़ना मन की पुष्टि मन के द्वारा जितनी क्रियाएं हम करते हैं विचारते हैं चिंतन मनन करते हैं उहापोह करते हैं स्मरण करते हैं ये सारे के सारे कार्य हमारे अच्छे हों ये मन की पुष्टि है और आत्मा की पुष्टि आत्मा की पुष्टि है उसका बल का बढ़ना उसकी निर्भयता का बढ़ना उसके आत्मविश्वास का बढ़ना स्वरूपतः आत्मा नित्य है और यथावत ही रहता है किंतु उसकी सामर्थ्य साधनों की सामर्थ्य के बढ़ने से बढ़ती है और उपासना का जो फल महर्षि ने लिखा निर्भयता दुख के आने पर भी न डरना ये आत्मा की पुष्टि है निर्भयता एक पुष्टि है दुख रहितता ये पुष्टि है इस रूप में आत्मा की पुष्टि स्वीकार करनी होगी क्योंकि आत्मा यही सब चाहता है तो परमात्मा पुष्टि वर्धन पुष्टि को बढ़ाने वाला है ये पहली पंक्ति के जितने शब्द हैं ये परमात्मा के विशेषण के रूप में कहे गए परमात्मा ऐसा ऐसा है दूसरी पंक्ति में भी एक शब्द और दिया परमात्मा के लिए सुमित्र वो मित्र है मित्र सामान्य नहीं वो सुमित्र है अच्छा मित्र है और सुमित्र की व्याख्या करते हुए महर्षि ने लिखा सुंदर सुशब्द को उन्होंने खोला सुंदर और दूसरे ढंग से खोला यथावत सम्यक प्रकार से सुंदर यथावत सबका परम मित्र है लौकिक मित्र किसी किसी के होते हैं कुछ व्यक्तियों के मित्र होते हैं हम भी किसी के थोड़े सो के मित्र होते हैं व्यवहार में लेकिन परमात्मा सुंदर मित्र है यथावत मित्र है और सबका मित्र है और परम मित्र है सबसे बड़ा मित्र है मित्रता में हम अपने मित्र का हित करते हैं हम हित समझ करके करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी जो हमारा मित्र है वो हमारे सहयोग को हितकारी समझ करके स्वीकार भी करता है पर अनेक बार ये मित्रता का भाव होते हुए भी वो यथा योग्य मित्रता नहीं हो पाती है उसमें हम हानि भी कर देते हैं दूसरे की अपने मित्र से हम अपनी हानि भी उठा लेते हैं हम हित समझ रहे होते हैं मित्रता का भाव होते हुए भी वो यथा योग्य मित्रता नहीं हो पाती है हम अपने मित्र को बहुत अधिक मान भी दे देते हैं हम अपने मित्र से अपेक्षा भी रखते हैं ये हमें अधिक मान दे ये अयथा योग्य कामना हो गई और जब हम अपने मित्र को अधिक मान देते हैं उसकी योग्यता से तो वो यथा योग्य मित्रता नहीं हुई अयथा योग्य है लेकिन परमात्मा मित्र है पर यथा योग्य मित्र है तो बहुत अच्छे विशेषण महर्षि ने लिखे सुमित्र को खोलते हुए सुंदर यथावत सबका और परम मित्र अब यह परमात्मा की स्तुति की गई और स्तुति के बाद में क्या कहा सोम नो भव हे सोम न हमारे भव हो सामान्य अर्थ जो हम संस्कृत में लेते हैं आप हमारे हो वो एक दृष्टि से अर्थ किया जाए कि आप हमारे ऐसे ऐसे हो जो विशेषण यहां पर दिए गए हैं आप गयस्फान हो हो वो आप वसुवित हो पुष्टिवर्धन हो पुष्टि करने वाले हो सर्वमित्र बनो हमारे लिए बनो इस रूप में एक सामान्यतः हम अर्थ ले सकते हैं लेकिन महर्षि ने यह अर्थ नहीं किया है इसको प्रार्थना में नहीं लिया है ये स्तुति में लिया है महर्षि मंत्रों के ऊपर भी लिखते हैं ये प्रार्थना मूल प्रार्थना मूल स्तुति पिछले मंत्र के अंदर मूल प्रार्थना थी इस मंत्र में शीर्षक दिया है मूल स्तुति इसमें परमात्मा की केवल स्तुति की गई है और इसलिए भव शब्द को खोलते हुए महर्षि ने भवसी ये लिखा है लोट न करके यहां पर लट का अर्थ लेकर के भवसी होते हो आप हो ऐसे इसी संदर्भ में हमें इसे लेना चाहिए और इस स्तुति से क्या होगा वो महर्षि ने आगे लिखाई है मंत्र में अंत में व्याख्या में महर्षि ने जो लिखा कि सो अपने परमात्मा के लिए जब लिखा सुमित्र सोम न भव सुंदर यथावत सबका परम मित्र वही है ये उसकी स्तुति हुई अब जो आगे लिखा सो अपने उससे यह मांगे कि हम उससे मांगे कुछ वो ऐसा है ये स्तुति हुई अब हम उससे मांगे क्या मांगे हे सोम सर्वजगत उत्पादक आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो सुमित्र सोम नो भव इस पंक्ति का अर्थ यहां पर अगर हम यूं देखेंगे तो हे सोम न हमारे हमारे लिए सुमित्र भव आप सुमित्र हो और महर्षि के वचन से भी यही प्रतीत होता है आप हम ये मांगे कि हे सोम सर्व जगत उत्पादक आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो कृपा करके जो शब्द प्रयोग किया जाता है कि कृपा करके आप मेरे लिए ये कार्य कीजिए मेरे को ये दीजिए ये प्रार्थना के प्रसंग में आ जाते हैं लेकिन इतना जो अंश है सुमित्र सोम नो भव भव से भवसी जो महर्षि ने लिखा तो इस पंक्ति का अर्थ भी हम स्तुति में ही लेंगे लेना चाहिए यहां जो लिखा है आप ही कृपा करके एक कृपा करके शब्द हम प्रयोग करते हैं प्रार्थना के समय यदि ये प्रार्थना करते हुए होता तो करके हमारे मित्र हो यह शब्द है हो ऐसा नहीं है होवे ऐसा नहीं है हो आप हो ऐसे तो अब जो ये कृपा करके शब्द लिखा है ये प्रार्थना के रूप में नहीं होगा आप हमारे ऊपर कृपा करके ऐसे ऐसे हो आपने कृपा कर रखी है हमारे पे और ऐसी कृपा करके आप हमारे लिए इस इस प्रकार के हो विद्यमान हो अभी अब इस तरह देखेंगे तो ये प्रार्थना में नहीं आएगा ये स्तुति वाक्य ही माना जाएगा और महर्षि की पंक्ति की संगति इसमें अधिक अच्छी है अब परमात्मा तो हमारे लिए सुमित्र है हमें क्या करना है हमारे पक्ष में इस स्तुति के बाद में क्या करनीय है उसे महर्षि ने आगे लिखा है जो कि मंत्र में सीधा नहीं है लेकिन मंत्र से क्या हम सीख ले सकते हैं वो लिखा है आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हो इतना होने के बाद और हम भी सब जीवों के मित्र हों यहां पर बिंदी है हों हो मतलब होवे जैसे आप मेरे मित्र हो हम सबके मित्र हो सुमित्र हो ऐसे हम सब जीवों के मित्र हों हम अन्य जीवों के साथ उस प्रकार का व्यवहार करें उस प्रकार की मित्रता का व्यवहार करें जैसी मित्रता का व्यवहार आप हमारे साथ में करते हो और वो उसकी कैसी मित्रता है वो महर्षि ने विशेषण दिए वो सुंदर है वो यथावत है यथा योग्य है वो सबके साथ है और चरम पे है परम पे है सर्वाधिक है जितनी हम कर सकते हैं हमें ऐसा करना है हम ऐसे होवे ये अन्य जीवों के साथ परमात्मा का दृष्टांत लेते हुए हमें भी ऐसा ही परमात्मा जैसा बनना है और परमात्मा के प्रति क्या करना है हमें तो उसके लिए महर्षि लिखते हैं तथा अत्यंत मित्रता आपसे ही रखें अन्यों से भी मित्रता रखेंगे लेकिन अत्यंत मित्रता आपसे ही रखें सबसे अधिक मित्रता सबसे बड़ा मित्र हम आपको ही माने क्योंकि आप ऐसे ऐसे गुणों वाले हो आप ऐसे ऐसे मेरे मित्र हो इसलिए मुझे भी आपके प्रति मित्रता रखनी है मुझे आपको मित्र समझना मंत्र में बहुत सारी बातें कहीं परमात्मा धन को बढ़ाने वाला है प्रजा को संतान को सुराज्य को बढ़ाने वाला है इन सबको देख करके एक मन में बात आती है कि किसका बढ़ाने वाला है परमात्मा इन चीजों को किन का बढ़ाने वाला है किन लोगों की ये चीजें बढ़ाता है तो जो भक्त होते हैं वो सामान्यतः यही अर्थ लेते हैं महर्षि ने भी शीर्षक लिखा है परमात्मा भक्त जीवों अपना इष्ट जो परमेश्वर फिर आगे की बात लिखी तो जो जो परमात्मा का भक्त है उस उसकी ये ये चीजें बढ़ती हैं ये सामान्यतः हम अर्थ लेते हैं जो परमात्मा का भक्त है परमात्मा का की स्तुति करता है वो ऐसा ऐसा होता है वो ऐसा प्रयास भी करता है वैदिक धर्मी भी यही बात परमात्मा के लिए बोल रहा है पौराणिक भी यही बोलता है जब हम भक्त के साथ में इन चीजों का संबंध जोड़ लेते हैं तो फिर प्रश्न उठने लगता है कि जो परमात्मा को नहीं मानते उनकी ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ इसी जैसा उठता है कि जो ईश्वर को नहीं मानते या ईश्वर को गलत ढंग से मानते हैं उनकी ये चीजें हमारे से अधिक क्यों बढ़ी हुई हैं हम ईश्वर को सच्चे ढंग से मानते हैं हमारी तो ये चीजें उतनी नहीं बढ़ी हुई हैं जितनी उनकी बढ़ी हुई हैं उनके पास अधिक पशु हैं अधिक धन है बड़ा राज्य है सुराज्य हमारे से अधिक है हम भारतवासियों का या हम आर्यों का ये सब कम क्यों है और यदि किसी ने ये संगति लगा रखी है कि जो जो परमात्मा का भक्त है उसकी स्तुति करता है परमात्मा उनकी ये चीजें बढ़ाता है प्रत्यक्ष उसे दिखाई दे रहा है कि ये अन्यों की बढ़ती है तो उसकी भक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी या तो वो कुछ अलग ढंग से सोचने लगेगा अलग ढंग से समाधान करेगा अज्ञान पूर्वक नहीं तो उसकी भक्ति कम होगी दूसरी तरफ वो देखेगा कि जो ईश्वर को सच्चे रूप में मानता है उसकी भी मान लो ये चीजें बढ़ती हैं मान लिया लेकिन जो ईश्वर को सच्चे रूप में नहीं मानते गलत स्तुति करते हैं उनकी भी तो ये चीजें बढ़ रही हैं तो फिर इस भक्ति का शुद्ध ज्ञान का अंतर क्या हुआ ये प्राय करके प्रश्न उठते रहते हैं पौराणिक भी परमात्मा को इन सब चीजों को बढ़ाने वाला मानते हैं हम भी मानते हैं और उसमें अंतर वैदिक धर्मी का इसमें अंतर रहेगा वो मानेंगे परमात्मा के नाम स्मरण से परमात्मा का ध्यान करने से ये सारी चीजें बढ़ती हैं वैदिक धर्मी केवल इससे नहीं मानेगा वैदिक धर्मी मानेगा कि परमात्मा की आज्ञाओं के पालन करने से यह होता है और उसमें फिर समाधान आता है जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं लेकिन ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप प्रयत्न करते हैं पुरुषार्थ करते हैं उनकी ये चीजें बढ़ती हैं तो एक अंश में तो ये समाधान होगा औरों की क्यों बढ़ती हैं जो ईश्वर को नहीं भी मानते लेकिन प्रश्न फिर उत्पन्न होगा कि यदि इस पुरुषार्थ से ही ये बढ़ती हैं चीजें तो फिर ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है ईश्वर के स्मरण की क्या आवश्यकता है तो हमें वहां फिर दूसरी दृष्टि से भी देखना होगा इन सब चीजों की पुष्टि शरीर आदि इंद्रिय की पुष्टि मांस खाने से भी हो सकती है अन्य और गलत कार्यों से भी हो सकती है धन आदि की वृद्धि भी गलत कार्यों से हो सकती है जिस समय हम ये चीज देख रहे होते हैं तो अनेक बार ये नहीं देखते कि गलत कार्यों से ये चीजें बढ़ रही हैं और इन चीजों का गलत ढंग से बढ़ना ये पुष्टि केवल शरीर मजबूत हो गया और बाहर बढ़ गया मांसल हो गया धन बढ़ गया ये पुष्टि मात्र इतनी पुष्टि नहीं कही जा सकती पुष्टि किस लिए है हमारे हित के लिए है जिसका शरीर दिखने में तो पुष्ट हो गया लेकिन वो गलत कार्य करता है तो पुष्टि उसके किस काम की है वो गलत कार्य कर रहा है उसके लिए हानि कर रहा है तो ये वास्तविक पुष्टि नहीं है यहां जो स्तुति की गई परमात्मा को स्मरण करते हुए कि परमात्मा आप ये सब हमारे को देते हो जो ईश्वर को नहीं मानता है पुरुषार्थ करता है उसकी ये चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं किंतु वो इन चीजों का देने वाला परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है वो पुरुषार्थ आदि से इनको प्राप्त करने वाला मानता है वैदिक धर्मी आर्य क्या मानेगा पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ से इनको प्राप्त होना भी मानता है लेकिन साथ में ये भी मानता है कि केवल मेरे पुरुषार्थ से आत्मा के पुरुषार्थ से ये मुझे प्राप्त नहीं हो सकते पुरुषार्थ को दोनों मानेंगे नास्तिक भी और वैदिक धर्मी भी आर्य भी किंतु अंतर रहेगा एक में सतत कृतज्ञता रहेगी परमात्मा के प्रति और अपने इन साधनों का उपयोग वो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करेगा और वो दूसरे व्यक्ति पुरुषार्थ से इन सब चीजों को पा तो लेंगे और ईश्वरीय व्यवस्था से उनको ये सब चीजें मिलेंगी भी किंतु वो उसका उपयोग ईश्वर की प्राप्ति में ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप न करके कहीं गलत भी करेंगे उनके मन में कृतज्ञता का भाव विनम्रता का भाव नहीं रहेगा उनमें एक अहंकार का भाव रहे, रहेगा प्रत्यक्ष परोक्ष कि मैंने पुरुषार्थ करके ये सब पाया है और आर्य के मन में सदैव ये रहेगा इस स्तुति के अनुरूप इस महर्षि की व्याख्या के अनुरूप कि ये सब मैंने परमात्मा की सहायता से प्राप्त किया है वैदिक धर्मी आर्य ये कभी नहीं सोचेगा कि केवल परमात्मा ही अपने आप दे देता है बिना पुरुषार्थ के पुरुषार्थ को भी वो मान रहा है पुरुषार्थ को भी पूरा महत्व दे रहा है लेकिन उससे अधिक महत्व वो परमात्मा को दे रहा है ये एक आर्य और अनार्य में भिन्नता है और ये भिन्नता मुक्ति की प्राप्ति में मुक्ति की तरफ ले जाने में और जीवन को पूरी तरह सुखी बनाने में सहायक होती है और ये दोनों पक्षों में अंतर आता है तो हमारे पास में ये जो चीजें बढ़ती हैं बढ़ी हैं परमात्मा की सहायता से बढ़ी हैं परमात्मा इन सबको बढ़ाने वाला है वो यथा योग्य मित्रवत हमारे साथ व्यवहार करता है ये भाव आर्य के मन में होगा और साथ में मैं भी अन्यों के साथ इसी प्रकार से व्यवहार करूं यथा योग्य मित्रता रखूं और परमात्मा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च मित्र स्वीकार करूं ये स्तुति और उससे होने वाला जो लाभ है महर्षि ने अपनी व्याख्या में रखा आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं एक क्रम हम प्रतिदिन रखेंगे आज कुछ समय अधिक है यथा समय करने का प्रयास करेंगे तो यदि पूछिए जो नास्तिक है उसका केवल शारीरिक बल बढ़ता है व्यवहार में हम देखते हैं कि उनका बौद्धिक बल बढ़ा हुआ है बढ़ेगा शरीर का मैंने केवल उदाहरण दिया इनका प्रश्न है कि जी केवल नास्तिकों का क्या केवल शरीर बढ़ेगा ऐसा मेरे वचन से आया शरीर मैंने उदाहरण दिया है वो शरीर आदि मन इंद्रिया बुद्धि भी जो आप ले रहे हैं ये सब भी चीजें बढ़ेंगी उनकी ठीक है स्वस्थ शरीर में अस्वस्थ बुद्धि भी रह सकती है लेकिन अस्वस्थ शरीर में शुद्ध बुद्धि का रहना कठिन होता है इसलिए स्वस्थ शरीर बुद्धि की वृद्धि में सहायक है यही इसका अर्थ है लेकिन बहुत से व्यक्ति आपको दिखेंगे जो दिख, स्वस्थ हैं वैसे तो सामान्य रूप से कोई रोग नहीं है लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होती है इन सब चीजों की वृद्धि उनकी भी होगी जो स्मरण अधिक करेगा बुद्धि का उपयोग करेगा बुद्धि बढ़ेगी उसकी मन बढ़ेगा शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगा लेकिन उस वृद्धि के बाद में वो उसका उपयोग किस तरफ कर रहा है उस बुद्धि का उपयोग वो किसके लिए कर रहा है वो केवल भोगों के लिए कर रहा है और वो शोषण के लिए कर रहा है वो अधर्म के लिए कर रहा है अथवा वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए कर रहा है हम जब पुष्टि को देखते हैं इन सब चीजों की वृद्धि को देखते हैं तो सामान्यतया क्या देखते हैं शरीर आदि बढ़ाए बुद्धि भी ले लीजिए उसमें मन घर बार कारें गाड़ियां साफ सफाई निरोगता व्यवस्थाएं हम सबको इस रूप में देखते हैं और इसी तुलना में रह करके और आस्तिक ये सोचने लगता है कि ये सब तो उनके ज्यादा हैं नास्तिकों के भी ये ज्यादा हैं आस्तिकों के तो इतने खराब हैं और आस्तिकों के यदि उतने अच्छे हो भी जाएं तो भी फिर आस्तिक होने का क्या लाभ है हम भी यदि सुव्यवस्था रखें पुरुषार्थ करें तो उन्हीं जैसे तो होंगे बाहर के रूप में लेकिन अंतर रहेगा अच्छी व्यवस्था होते हुए मार्ग अच्छे हैं साफ सफाई है नियम कानून है गाड़ियां ठीक जगह चल रही हैं ये सब होते हुए भी किस लिए चल रही हैं वो उसका लक्ष्य क्या बना हुआ है ये सब करके वो क्या कर रहे हैं भोग भोग रहे हैं कैसे भोग शारीरिक भोग भोग रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या बना हुआ है वही भौतिक सब सुख साधनों को भोगना यही लक्ष्य बना हुआ है परमात्मा छूटागा छूटेगा वहां पर तो पुष्टि जब भी हम देखेंगे या देखनी चाहिए केवल इतने से नहीं उसका वो उपयोग क्या कर रहा है कितना कर रहा है ये भी तो साथ में देखा जाएगा तब पूरा परिपूर्ण स्वरूप आएगा परमात्मा को मानने पर इन साधनों की जो वृद्धि हमारे पुरुषार्थ से होगी परमात्मा की सहायता से होगी उसके साथ साथ इनका उपयोग हमारा ठीक होगा ये सबसे बड़ा अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है उससे क्या होगा आप स्वच्छ वस्त्र किसी ने पहन लिए अच्छे वस्त्र पहन लिए सब चमचमाती चीजें हो गई और वहीं पड़ा हुआ है वो भोग में पड़ा हुआ है आत्मा की दृष्टि से उसमें क्या लाभ ले रहा है वो तात्कालिक सुख भोग रहा है जिस प्रयोजन से मनुष्य शरीर मिला उस दृष्टि से कोई भी लाभ नहीं है उसको और उल्टे संस्कार डाल रहा है भोगों के संस्कार डाल रहा है और अपनी हानि कर रहा है तो ये बढ़ा करके भी उसका परिणाम क्या निकला अपनी हानि कर ली अच्छा चाकू बना करके किया क्या अपनी उंगली काट ली तो उस अच्छे चाकू बनने का उसकी वृद्धि का समृद्धि का प्रयोजन क्या हुआ व्यर्थ हुआ वो अपनी उंगली नहीं कटनी चाहिए वो चाकू भी अच्छा होना चाहिए ये तब आता है जब ईश्वर को हम इस रूप में स्वीकार करते हैं ये तात्पर्य है जो तो जो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप पुरुषार्थ करते हैं वो दुखी नहीं होते हैं ठीक है अब ईश्वर की आज्ञा इतनी तो उन्होंने मान ली कि मेहनत करके तीखा चाकू बना लिया बुद्धि का प्रयोग करके आगे की चीज रह गई इस चाकू का तो उदाहरण एक बहुत स्थूल उदाहरण है वो भोगों में ही पड़े हैं और संस्कार अपने पे बुरे डाल रहे हैं क्या ईश्वर की पूरी आज्ञा का पालन हुआ ये भी तो ईश्वर की आज्ञा है ये जो आज हम मंत्र पढ़ रहे हैं परमात्मा को इन सब चीजों का देने वाला स्वीकार करना ये भी तो ईश्वर की आज्ञा है हमें ऐसा करना चाहिए उन्होंने एक अंश में पुरुषार्थ किया उतना मिल गया ये अंश छूट गया ये छूट गया तो उनका रास्ता भटक गया दूसरी तरफ चले गए तो ईश्वर की जो पूरी आज्ञा का पालन करता है यानी भौतिक स्थूल पुरुषार्थ भी करता है और ये दृष्टि भी मन में रखता है यानी योगाभ्यास भी रखता है ईश्वर समर्पण भी रखता है वो दुखी नहीं होता है इन सब चीजों को संपन्न करके क्या व्यक्ति दुखी नहीं होता है इन सब वृद्धियों को बहुत अच्छा शरीर लेते हुए सुंदर शरीर सब साधन अच्छे होते हुए क्या दुखी नहीं होता है हो सकता है दुखी तो पूर्ण सुख तो तभी आएगा जब ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलेगा और तभी ईश्वर की पूरी आज्ञा का पालन होगा वो एक अंश में ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उतने अंश में उनकी वृत्ति होती है सबकी होती है ईश्वर न्यायकारी है वो यथा योग्य व्यवहार करता है अभ्युदय प्राप्त करेगा अभ्युदय भी पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि ईश्वर साथ में नहीं है और अभ्युदय हमारा निश्रेयस के लिए है अभ्युदय केवल अभ्युदय के लिए नहीं है अभ्युदय का लक्ष्य निश्रेयस है उस रूप में वो सार्थक नहीं हो पाएगा तो इसको फिर यही समाप्त करते हैं कुछ आपने किया उसका मतलब- तर्क वितर्क करना ये ऐसा है या नहीं है उचित है अनुचित है ये तर्क वितर्क करना शांति प्रकट करेंगे पहले तीन बार ओम का उच्चारण जो भावना महर्षि ने मंत्र के माध्यम से प्रकट की है उसको मन में बैठाएंगे शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरे शांति सामा शांति थी ओ शांति शांति शांति सबको साधन नमस्ते ओम